एटीट्यूड से भरे हुए हों तो वैसे आदमी का संबंध जीवन से हो सकता है लेकिन जो इन सभी द्वारों पर घृणा का भाव लिए खड़ा हो विरोध शत्रुता लिए खड़ा हो जो कान इसलिए बंद कर लेता हो कि संगीत न सुनाई पड़ जाए जो स्वाद का इसलिए शत्रु हो जाता हो जो आंख इसलिए बंद कर लेता हो आंख फोड़ लेने वाले लोग भी हुए हैं उन्होंने अपनी आंख फोड़ ली इसके तो वो मालिक थे लेकिन उनके प्रभाव में सारे मनुष्य जाति की आंखें धुंधली हो गई हैं इसका उनको कोई हक नहीं था आंख फोड़ ली है लोगों ने कि कहीं रूप आकर्षित ना कर ले जीवन जहां जहां से प्रवेश पा सकता है मनुष्य के भीतर वो सारे द्वार बंद कर लेने हैं ऐसे बंद द्वारों वाला व्यक्ति अहंकार को तो उपलब्ध हो सकता है ब्रह्म भाव को कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकता है ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे ये भाव से तो भर सकता है कि मैं कुछ हूं लेकिन जीवन क्या है इसका उसे कोई और छोर नहीं मिल सकता है जीवन को जानने की संभावना तो तभी है जब हमारा सारा व्यक्तित्व एक ओपनिंग एक द्वार बन जाए गीत के लिए हवाओं के लिए सौंदर्य के लिए संगीत के लिए स्वाद के लिए सुगंध के लिए सब तरफ हमारा जीवन एक द्वार बन जाए साधक मेरी दृष्टि में एक द्वार बन जाता है सब भांति से एक द्वार बन जाता है जीवन का जो क्षुद्रतम है वो भी उसे विराट का ही अंग प्रतीत होता है वो जो छोटे छोटे अंग है वो भी उसे ब्रह्मांड ही प्रतीत होते हैं वो जो छोटा सा फूल खिल जाता है ये जो कोयल कहीं बोल रही अनजान ये सब उसके प्राणों के अंतर्गीत बन जाते हैं अंतरनाथ बन जाता है वो सब स्वीकार कर लेता है जीवन जो भी देता है सभी को अनुग्रह से स्वीकार कर लेता है भोजन करना भी उसे प्रार्थना के तुल्य है स्नान करना भी उसे पूजा की भांति है हवाओं में श्वास लेना भी उसे भगवान के लिए धन्यवाद है जीवन से संबंध और आत्मैक्य तभी हो सकता है जब जीवन के प्रति निंदा का भाव गिर जाए कल मैंने आपको ज्ञान छोड़ने को कहा आज मैं आपसे जीवन के प्रति निंदा के भाव को छोड़ने के लिए कहना चाहता हूँ लेकिन गहरे बहुत गहरे हमारे चित्त में कंडीशनिंग बहुत गहरे संस्कार बैठ गए हैं जीवन की हर चीज की निंदा के अगर आपको बुद्ध कहीं हंसते हुए मिल जाए तो आप बड़े चिंतित हो जाएंगे अगर महावीर आपको कहीं वीणा सुनते हुए मिल जाए तो आप बड़े हैरान हो जाएंगे क्रिश्चियंस कहते हैं जीसस नेवर लाफ जीसस कभी हंसे नहीं हम उदास संतों को देखने के ही आदि हो गए जीवन से जिन्होंने मृतक का भाव ले लिया जीवन के प्रति जो जीते जी मर जाने की कोशिश में लग गए हैं उनकी छाया मनुष्य के चित्त पर गहरी हो गई है बहुत अंधकारपूर्ण हो गई है हंसता हुआ संत हमारी कल्पना में भी नहीं आता हम बुरे आदमी को हंसता हुआ देख सकते हैं भले आदमी को नहीं भले आदमी के साथ हंसी का कोई संबंध नहीं जीवन के आनंद का कोई संबंध नहीं धार्मिक लोग वही हो सकते हैं जो किसी भांति रुग्ण हो उदास हो बीमार हो धार्मिक लोग वही हो सकते हैं जो जीवन के प्रत्येक शत्रुता का भाव लेके किसी कोने में खड़े हो गए हों रंगों का स्वरों का सुगंधों का धार्मिक आदमी से क्या संबंध लेकिन नहीं मैं आपसे कहना चाहता हूं ठीक धार्मिक व्यक्ति और ही तरह का व्यक्ति होगा तीन संतों के बाबत मैंने सुना है वे तिब्बत में हुए और तीन हंसते हुए संत ही उनका नाम था उनका कोई और नाम न था थ्री लाफिंग सेंट्स इस तरह ही वो जाने जाते हैं वो जिस गांव में जाते हैं उस गांव में हंसी की खुशी की एक लहर पहुंच जाती है वे हंसते इतना हंसते कि हंसना संक्रामक हो जाता और धीरे धीरे पूरा गांव हंसने लगता है वे जिस चौराहे पर खड़े हो जाते वहां हंसी के फवारे छूट जाते लोग उनसे पूछते हैं आपका कोई उपदेश नहीं है वो कहते एक ही हमारा उपदेश है कि जीवन को हंसी के भाव से स्वीकार कर लो जीवन को रोते हुए स्वीकार जो करेगा जीवन से उसका कोई संबंध नहीं हो सकता वे लोगों से कहते कि रोते हुए आंसुओं से भरे हुए कोई आदमी प्रभु के मंदिर में न कभी प्रविष्ट हुआ है और न कभी हो सकेगा मुस्कुराहटे तो उसके मार्ग बन सकती है मुस्कुराहट के इंद्रधनुष तो उस तक पहुंचने के सेतु हो सकते लेकिन रोती हुई सूरतें नहीं एक ही हमारा संदेश है कि लोग प्रफुल्लित मन से जीवन को अंगीकार करना सीख जाए वे तीनों बूढ़े हो गए और गांव गांव भटकते रहे मुझे पता नहीं वैसे संत कहीं और भी हुए हों काश वैसे संत और कहीं भी होते तो ये दुनिया आज दूसरी होती फिर उन तीन में से वो तीनों बूढ़े हो गए और एक संत की मृत्यु हो गई जिस गांव में एक संत की मृत्यु हुई गांव के लोगों ने कहा अब तो रोएंगे वे जरूर अब तो दुखी होंगे आज तो हम उनकी आंखों में आंसू देख लेंगे गांव के लोग इकट्ठे हो गए झोपड़े के पास लेकिन वे दोनों हंसते हुए अपने मृतक साथी को लेकर बाहर निकले और उन्होंने गांव के लोगों से कहा कि आओ और देखो कितना अद्भुत आदमी था ये लोगों ने देखा उसकी लाश पड़ी है लेकिन उसके ओठ मुस्कुरा रहे वो जो आदमी मर गया है वो हंसते हुए ही मर गया और मरते वक्त कह गया अपने मित्रों को कि एक कृपा करना मुझे जब ले जाकर मेरी अर्थी को तुम जलती हुई लकड़ियों पर रखो तो मेरे वस्त्र मत निकालना मुझे स्नान मत कराना तिब्बत में वैसा रिवाज आदमी मर जाए तो कपड़े निकालना स्नान कराना नए कपड़े पहनाने एक नई यात्रा पे कोई जाता है तो उसे नए कपड़े तो कम से कम पहना ही देने चाहिए लेकिन वो आदमी कह गया है कि नहीं मेरे कपड़े मत बदलना मुझे स्नान मत कराना इन्हीं कपड़ों में मुझे चिता पे चढ़ा देना फिर वो सारा गांव लेके संत की अर्थी को मरघट पहुंच गया है हजारों लोग इकट्ठे हो गए हैं चिता जल गई है अर्थी रख दी गई है जैसे ही आग लगी है शरीर जलना शुरू हुआ है अर्थी को चिता पर चढ़ा दिया गया है आग लग गई है लोग उदास खड़े हैं हजारों की भीड़ है लेकिन फिर एकदम धीरे धीरे भीड़ में हंसी छूटने लगी लोग हंसने लगे हंसी फैलती चली गई हंसी बिल्कुल संक्रामक हो गई क्या हो गया था जैसे ही लाश में आग लगी लोगों को पता चला कि वो आदमी अपने कपड़ों के भीतर फटा के फुलझड़ी छिपा के मर गया कपड़ों में उसने भीतर फटा के फुलझड़ी छिपा रखे लाश में आग लगी है फटाके फूटने लगे हैं फुलझड़ियां छूटने लगी हैं और लोग हंसने लगे और वो कहने लगे कि अद्भुत था वो वो मरा हंसता हुआ जिया हंसता हुआ और मरने के बाद भी लोग उसे हंसते ही विदा दें इसका भी व्यवस्था इसका भी आयोजन कर गए उस गांव में लोगों को पता चला हंसते हुए जिया जा सकता सकता हंसते हुए मरा जा सकता मरने के बाद भी पीछे हंसी की संभावना पैदा की जा सकती है ऐसे व्यक्ति को मैं धार्मिक व्यक्ति कहता हूं रोते उदास लोगों को विदा कर दे धर्म उनसे बहुत पीड़ित हो चुका है मनुष्य के जीवन में मनुष्यता के ऊपर जो सबसे बड़े दुर्भाग्य गिरे वो रोते हुए लोगों का प्रभाव रोते हुए लोगों से हम पीड़ित रुग्ण और उदास लोगों से हम पीड़ित हैं जो लोग जीवन की खुशी को उपलब्ध नहीं कर पाते उनकी स्थिति वैसी ही है जिस उस लोमड़ी की आपने सुनी होगी जो अंगूरों के वृक्ष के नीचे पहुंच गई थी और लटके थे अंगूर पके हुए और वो छलांग लगाने लगी लेकिन वृक्ष था ऊंचा और लोमड़ी नहीं पहुंच सकी वहां तक तब तो वो वापस लौट पड़ी और रास्ते में कहती गई खट्टे अंगूर है उन्हें पानी की भी क्या जरूरत है जीवन के आनंद को जीवन के फूलों को और जीवन के गीतों को जो उपलब्ध नहीं कर पाते वे कहते हैं जीवन खट्टा है अंगूर खट्टे हैं जीवन बुरा है जीवन आसार है अपनी असफलता को वे जीवन की निंदा में छिपा देते हैं और जिन्हें जीवन के ही अंगूर नहीं मिल पाए उन्हें परमात्मा के अंगूर मिल जाएंगे इसकी कोई उम्मीद नहीं है जीवन के रस से तो ये पता मिल सकता था कि परमात्मा कहाँ है लेकिन जीवन से विरस होकर तो उसका पता ठिकाना भी नहीं मिल सकेगा जीवन के भीतर जाकर तो खबर मिल सकती थी कि रास्ता कहाँ ले जाता है प्रभु तक कैसे जाएगा लेकिन जीवन को ही पीठ करके जो खड़े हो गए उनके लिए कोई रास्ता नहीं प्रभु कहीं भी है अगर तो जीवन के भीतर जीवन के विरोध में नहीं जीवन के विपरीत नहीं लेकिन अस्वस्थ रुग्ण हारे हुए लोग पराजित लोग अपने को दोष न देकर जीवन को ही दोष दे देते हैं हारा हुआ आदमी हमेशा इसी कोशिश में होता है कि कोई बहाना मिल जाए खुद को दोष न देना पड़े हारे हुए लोग स्मरण रखिए हारे हुए लोग अब तक धर्म में उत्सुक होते रहे हारे हुए लोगों की जमात धर्म के आसपास इकट्ठी हो गई है मंदिरों मस्जिदों में जाइए वहां हारे और पराजित लोग दिखाई पड़ेंगे आदमी जब मरने के करीब पहुंचने लगता है जब जीवन पर सारी उंगलियां छूट जाती हैं बूढ़ा होने लगता है लगता है जीवन अब गया तब गया तब वो मंदिर की यात्रा शुरू कर देता है तब वो सोचता है मंदिर का वक्त आ गया जब जीवन का वक्त गुजर जाता है तब मंदिर का वक्त आता है अगर कहीं कोई मंदिर है तो जीवन के घनेपन में है ये जो उदास ये जो निराश ये जो असफल लोगों का समूह है इसने धर्म को आक्रांत कर रखा है मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस दूसरी चर्चा में अपने को उदास और रोते हुए लोगों से मुक्त कर लीजिए रुग्ण अस्वस्थ विक्षिप्त लोगों से मुक्त कर लीजिए अगर जीवन के अंगूर न मिलते हो तो खट्टे मत कहिए यही कहिए कि मेरी छलांग छोटी है छलांग बड़ी की जा सकती है साधक छलांग बड़ी करने का प्रयास करता है पलायनवादी एस्केपिस्ट कहता है अंगूर खट्टे हैं और लौट जाता है छलांग बड़ी करिए जीवन हाथ में ना आता हो तो हाथ और बढ़ाइए आंखें न देख पाती हो तो आंखों को और खोलिए कान न सुन पाते हो तो कानों को और प्रशिक्षण दीजिए भोजन में न मिल पाता हो परमात्मा तो अस्वाद पर मत लौट जाइए क्योंकि अस्वाद अंगूरों को खट्टा करने की दलील है तो स्वाद को और शिक्षित कीजिए स्वाद को और साधिए क्योंकि जो लोग जानते थे उन्हें अन्न में भी ब्रह्म दिखाई पड़ सका है जो लोग जानते हैं उन्हें स्वर में भी ब्रह्म दिखाई पड़ सका है जो लोग जानते हैं उन्हें रूप में भी उसके ही दर्शन हो सके सौंदर्य भी उन्हें उसकी ही खबर बन गई सब कुछ उसकी ही खबर बन गया है शरीर का सौंदर्य भी भीतर छिपे परमात्मा की खबर बन जाता है लेकिन देखने वाली आंख चाहिए आंख मत फोड़िए आंख को शिक्षित करिए इंद्रियों की शिक्षा है साधना इंद्रियों का विरोध नहीं दमन नहीं सप्रेशन नहीं एक एक इंद्री ऐसी साधी जा सकती है कि उसके द्वार से प्रभु तक पहुंचने का मार्ग बन जाए तो मैं आपसे कहूंगा स्वाद है तो पूर्ण स्वाद लीजिए अस्वाद नहीं भोजन कर रहे हो तो ऐसा करिए कि भोजन करना ही एकमात्र कृत्य रह जाए सारा प्राण सारी देह सारी शक्ति समग्र चेतना भोजन करे जरा सा स्वाद छूट ना जाए स्वाद में इतनी लीनता इतनी तल्लीनता इतना आत्मभाव फिर आपको पता चलेगा कि अन्न ब्रह्म हो जाता है फिर आपको पता चलेगा कि स्वाद भी उसकी खबर है और तब भोजन करके अगर आपका हृदय धन्यवाद से भर जाए परमात्मा के लिए तो आश्चर्य नहीं तब तो सौंदर्य को भी देखिए और परिपूर्ण तल्लीनता से परिपूर्ण एकात्म भाव से और तब आपको सौंदर्य के पीछे अरूप के दर्शन होने लगे तो आश्चर्य नहीं रूप तो केवल ऊपर की खोल है भीतर अरूप छिपा है जब आपको कोई फूल सुंदर लगता है तो क्या सुंदर लगता है वहां क्या आपको फूल की पखड़ियां उनमें दौड़ते हुए केमिकल खनिज क्या सुंदर लगता है नहीं फूल की पखड़ियां भी नहीं फूल का पदार्थ भी नहीं फूल के खनिज भी नहीं फूल का रसायन भी नहीं लेकिन उन सबके मेल से जो अरूप है उसकी झलक मिलनी शुरू हो जाती है वो जो पीछे छिपा है उस सबके मेल से वो जो पीछे छिपा है उसकी खबर मिलनी शुरू हो जाती है जब आप वीणा सुनते हैं तो तारों की टंकार अच्छी लगती है हाथों का प्रभाव क्या अच्छा लगता है नहीं लेकिन स्वरों के माध्यम से वो जो स्वरों के बीच में अस्वर छिपा हुआ है शून्य छिपा हुआ है स्वरों के बीच बीच में वो जो शून्य छिपा हुआ है उसकी खबर मिलनी शुरू हो जाती है वो जो संगीत के पीछे निशब्द छिपा हुआ है संगीत से वो प्रकट होने लगता है जीवन की ये अद्भुत लीला है कि यहाँ जीवन में जो कुछ भी प्रकट होता है वो कंट्रास्ट में विरोध में प्रकट होता है स्कूल में हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो काला तख्ता लगा लेते हैं सफेद खड़िया से लिखते हैं उस पर सफेद खड़िया काले की पृष्ठभूमि में प्रकट होती है पूर्णता से प्रकट होती है सफेद तख्ते भी बना सकते हैं लेकिन तब पढ़ना मुश्किल हो जाएगा सफेद खड़िया लिखेगी सफेद तख्तों पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा जीवन हमेशा कंट्रास्ट में प्रकट होता है आत्मा को प्रकट होना है तो शरीर में प्रकट होती है शरीर काली बैकबोर्ड की तरह भूमि बन जाती है आत्मा के प्रकट होने के लिए सौंदर्य को प्रकट होना है तो रूप में प्रकट होता है ताकि अरूप कंट्रास्ट ले ले वो दिखाई पड़ सके सूर्य को प्रकट होना है तो संगीत में प्रकट होता है उल्टी है बात संगीत तो ध्वनि है शून्य निर्ध्वनि है लेकिन निर्ध्वनि को प्रकट होना हो तो ध्वनि का माध्यम ध्वनि का बैकग्राउंड ध्वनि की पार्श्वभूमि चाहिए परमात्मा को प्रकट होना है तो पदार्थ का संसार चाहिए जीवन हमेशा पृष्ठभूमि मानता है अभिव्यक्ति के लिए अगर पृष्ठभूमि ना हो तो जीवन प्रकट नहीं हो सकता जीवन की सारी अभिव्यक्ति कंट्रास्ट में है लेकिन अगर हम तख्ते को मिटा दें तो फिर सफेद अक्षर भी विलीन हो जाएंगे अगर हम शरीर के शत्रु हो जाएं तो आत्मा भी हमसे दूर हो जाएगी अगर हम संसार के दुश्मन हो जाएं तो हम परमात्मा की तरफ जाना भी बंद हो जाएंगे ये सीधा सा गणित दिखाई नहीं पड़ सकता ये अत्यंत दो दो चार जैसी बात दिखाई नहीं पड़ सकी क्यों नहीं दिखाई पड़ सकी न पढ़ने के कुछ कारण है हमें भी वही बात स्वीकृत हो जाती है वही बात जो हमारी जीवन स्थिति के अनुकूल पड़ती है हम सब भी हारे हुए लोग हैं इसलिए हारे हुए लोगों का संदेश हमें ठीक सुनाई पड़ जाता है हम सब भी पराजित लोग हैं इसलिए पराजित लोग जब कहते हैं कि जीवन आसार है तब हमें भी ये बात बिल्कुल ही ठीक मालूम पड़ती जो हमारी आदत का हिस्सा हो जाता है वही हमारी समझ में आता है शेष हमें समझ में नहीं आता मैंने सुना है एक मछुआ जीवन भर मछलियों को मारने का धंधा करता रहा था एक बार देश की राजधानी में पहुंच गया राजधानी घूम घूम के देखने लगा चकित विमुक्त फिर वो उस रास्ते पर पहुंच गया जहां देश के राजधानी के इत्र बिकते थे सुगंधियां बिकती थी उस सुगंधियों का बाजार था वो वहां पहुंच गया जाते ही उसे अपनी नाक बंद कर देनी पड़ी क्योंकि उसे बड़ी बदबू मालूम पड़ी उसने मछलियों की सुगंध को ही जाना था उसी को वो सुगंध कहता था वो बहुत हैरान हो गया लेकिन भागने की भी कोशिश की उसने कि बाजार से निकल जाए लेकिन लंबा बाजार था राजधानी का बाजार था वहां दुनिया के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सुगंधियां थी आखिर वो बेहोश होकर गिर पड़ा गंध इतनी तेज मालूम होने लगी कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा भीड़ इकट्ठी हो गई पास के दुकानदार कीमती से कीमती सुगंधियां लेके आ गए कि शायद सुगंध सुघाने से उसे होश आ जाए उन्हें पता भी नहीं कि वो सुगंधों की वजह से ही बेहोश हो गया वो उसे सुगंधियां सुघाने लगे वो तड़फने लगा हाथ पैर फेंकने लगा उसको तो बोलते भी नहीं बन रहा है वो और बेहोश हो गया और तभी उस भीड़ में एक आदमी बाहर आया जो पहले मछुआ रह चुका था उसने कहा कि मित्रों तुम बड़ा गड़बड़ किए दे रहे हो वो आदमी मर जाएगा आप हटो अपनी सुगंधियां दूर हटाओ इन्हीं के कारण वो बेहोश हो गया लेकिन उसके पास उसका झोला था जिसमें वो मछलियां बाजार बेचने लाया था उसने उस पर पानी थोड़ा छिड़का और उस आदमी के नाक के पास वो झोला रख दिया उसने गहरी सांस ली आंख खोली और उसने कहा दिस इज रियल परफ्यूम ये है असली सुगंध स्वाभाविक हमें वही बात ठीक मालूम पड़ती है जिसके हम आदि हैं हमें वही सुगंध मालूम पड़ती है जिसे हम जानते हैं चूंकि सभी मनुष्य जीवन की कला में दीक्षित नहीं है और पराजित हो जाते हैं इसलिए जब कोई पराजित व्यक्ति खड़े होकर कहता है असार है सब व्यर्थ है सब छोड़ देने जैसा है सब तो हाथ हमारे भी उठ जाते हैं क्या आप ठीक कहते हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं जीवन की कला ही नहीं सिखाई गई जीवन एक कला है जन्म के साथ ही जीवन नहीं मिल जाता जीवन एक लंबा प्रशिक्षण है और सूक्ष्मतम कला है जीवन की इस जीवन कला का दूसरा सूत्र मैं आपसे कहना चाहता हूं जो भी है जो भी उपलब्ध है इंद्रियों से जो भी आता है उस सबको अत्यंत आनंद से अत्यंत ग्रेटिट्यूड से स्वीकार करें और आप पाएंगे कि जीवन से आपका संबंध होना शुरू हो गया हमारे भाव तोड़ते हैं हमारे भाव जोड़ सकते हैं हमारा दुर्भाव तोड़ देता है हमारा सद्भाव जोड़ देता है जीवन के प्रति सद्भाव मैं उन सारे लोगों को परमात्मा के शत्रु कहता हूं इनिमीज ऑफ गॉड जो जीवन के प्रति दुर्भाव सिखाते हैं कल ही एक मित्र आए उन्होंने कहा कि मैं तो साठ वर्ष का हो गया हूं लेकिन अब भी सुंदर स्त्री को देखता हूं तो बेचैन और परेशान हो जाता हूं जिंदगी भर मैंने कोशिश की है कि अपने मन को स्त्री से अलग कर लू अलग कर लू अलग कर लू लेकिन इस उम्र में भी स्त्री मेरा पीछा कर रही है मैंने कहा वो पीछा करती ही चली जाएगी वहां कब्र में चले जाएंगे और वो पीछा करती चली जाएगी आप पीछा करवा रहे हैं जीवन की कला स्त्री से भागना न सिखाती सौंदर्य से आंखें फेरना न सिखाती बल्कि इस जिज्ञासा में और ऊपर उठाती कि जो सौंदर्य दिखाई पड़ रहा है वो कहां से आ रहा है वो सौंदर्य क्या है और अगर एक स्त्री में भी सौंदर्य दिखाई पड़ा हो दिखाई पड़ सकता है फूल में दिखाई पड़ सकता है तो स्त्री में क्यों नहीं पुरुष में क्यों नहीं आंखों में क्यों नहीं शरीर में क्यों नहीं क्योंकि फूल भी एक शरीर है चांद भी एक शरीर है तारे भी एक शरीर है सागर भी एक शरीर है वृक्ष भी एक शरीर है तो आदमी के शरीर का ही कसूर क्या है लेकिन अगर सौंदर्य का विरोध न होता अगर निंदक की दृष्टि न होती तो शायद उस सौंदर्य में और गहरे प्रवेश होता है वो सौंदर्य के ध्वनि पर सवार होकर मन और आगे जाता है और उस जगह पहुंच जाता जहां से सारा सौंदर्य आता है उस अरूप पर पहुंच जाता है जहां से जीवन के सारे आनंद और सारी खुशियां आती तो शायद फिर एक स्त्री मंदिर बन जाती है उसके भीतर परमात्मा दिखाई पड़ जाता फिर चाहे एक पुरुष प्रभु बन जाता है उसके भीतर परमात्मा दिखाई पड़ जाता तो मैं नहीं कहता हूं कि आप भागे सौंदर्य से रूप से संगीत से सुगंध से सुवास से स्वाद से किसी से भी मत भागे सभी के भीतर खोज करें कि जो आकर्षित कर रहा है जरूर वहां कहीं भीतर परमात्मा होगा जहां भी आकर्षण है जहां भी ग्रेविटेशन है स्मरण रखें कि वहां कहीं कोई परमात्मा का केंद्र होगा अन्यथा कोई आकर्षण संभव नहीं है तो आकर्षण को सूचना समझें और भी, भीतर और भीतर और गहरे और गहरे प्रवेश करें चित्त को जाने दें और धीरे से आप पाएंगे कि सारी खबरें उसकी खबरें हैं फूल से भी वही झांकता है सागर से भी वही चांदारों से भी वही आदमी से भी वही स्त्री से भी वही बच्चों से भी वही सबसे वही झांकता है उसकी खोज करनी है तो द्वार खुले होने चाहिए रिसेप्टिविटी ग्राहकता पूर्ण होनी चाहिए कि सब तरफ से जो संदेश आएगा उसे मैं अपने हृदय तक ले जाने को हमेशा तैयार हूँ ये मनुष्य जाति बिल्कुल दूसरी मनुष्य की जाति हो सकती है ये पूरी ह्यूमैनिटी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकती है एक रूपांतरण हो सकता है लेकिन नहीं निंदकों का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है जीवन के प्रशंसकों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं तो ये दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं इन तीन दिनों में तो आप प्रयोग करेंगे ही द्वार खोले मन का समस्त आकर्षण के लिए द्वार खोल दे जीवन के समस्त स्वाद के लिए द्वार खोल दे और जीवन के प्रत्येक अनुभव में आनंद की गहरी से गहरी खोज और आत्मलीनता खोजे तो लीनता खोजे और जीवन की जो मधु वर्षा हो रही है उसमें डूब जाएं, उसमें एक हो जाएं, उससे जुड़ जाएं, उसके और अपने बीच कोई फासला न रखे जैसा एक सूखा पत्ता हवाओं में उड़ता है हवाएं पूरब ले जाती है तो पूरब चला जाता है हवाएं पश्चिम ले जाती हैं तो पश्चिम चला जाता है हवाएं जमीन पर गिरा देती हैं तो जमीन पर गिर जाता हवाएं आकाश में उठा देती हैं तो बादलों में उठ जाता एक सूखे पत्ते हो जाएं और जीवन के सारे रस जीवन का सारा आनंद जीवन के सारे अनुभवों को गुजरने दे कोई बाधा ना डाले कहीं कोई बैरियर खड़ा ना करे कहीं कोई दीवार ना बनाए जीवन के सागर में बह जाए तो स्मरण रखे कि वो सागर अंततः परमात्मा तक ले जाने वाला बन जाता है जीवन में जो बहते हैं वे तो कभी पहुंच जाते हैं लेकिन जीवन के विरोध में पीठ करके जो खड़े हो जाते हैं वे न कभी पहुंचे हैं न कभी पहुंच सकते हैं न कभी पहुंच सकेंगे ये दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ तीसरे सूत्र पर कल सुबह हम बात करेंगे इसे थोड़ा प्रयोग करें तो ही पता चलेगा वो जो भीतर निंदक बैठा है वो बहुत इनकार करेगा कि बहुत खतरा हो सकता है वो जो भीतर कंडेमनेशन बैठा है वो कहेगा भूल के मत पढ़ना इसमें तो मुश्किल हो जाएगी इसमें तो सब गड़बड़ हो जाएगा इसमें तो साधना सब भ्रष्ट हो जाएगी वो निंदक बहुत जोर से कहेगा भीतर क्योंकि वो आज का नहीं है वो हमारे कलेक्टिव माइंड का हिस्सा है वो हमारे समूह मन का हिस्सा है वो कोई पांच हजार वर्ष से हमारे भीतर बैठा है और उसकी वजह से जीवन एकदम एकदम विषाक्त पायजनस हो गया है जीवन की कोई खुशी अंगीकृत नहीं रही कोई गीत अंगीकृत नहीं रहा लाइफ निगेटिव है वो हमारा जो दृष्टिकोण है और लाइफ अफर्मेशन चाहिए रिवरेंस फॉर लाइफ चाहिए जीवन के प्रति आदर सम्मान जीवन के प्रति प्रेम अनुग्रह का भाव चाहिए धन है वे लोग जो जीवन के प्रति अनुग्रह से भरते क्योंकि जीवन में जो भी श्रेष्ठ है सुंदर है शुभ है वो सभी उनको उपलब्ध हो जाता है इसके बाद हम सुबह के ध्यान के लिए बैठेंगे तो दो चार बात समझ लें फिर हम अलग अलग ध्यान के लिए बैठे मेरे लिए तो ध्यान भी जीवन की स्वीकृति है अंगीकार है ये हवाएं हैं ये आएंगी ये गुजर जाएंगी आवाजें हैं पैदा होंगी विलीन हो जाएंगी सागर का गर्जन चलता रहेगा कोई पक्षी बोलेगा इस सब को परमात्मा का आशीर्वाद समझ के अंगीकार कर लेना इसे स्वीकार कर लेना अब तक ध्यान के नाम से जो भी सिखाया गया है वो रेसिस्टेंस है वो प्रतिरोध है अब तक यही सिखाया गया है कोई आवाज न सुनाई पड़े चींटी काटे तो पता ना चले पत्थर की तरह हो जाना है कुछ पता ना चले ये मर जाने की प्रक्रियाएं आदमी मर जाता है तब चींटी भी काटती तो पता नहीं चलता हवा भी चलती है तो पता नहीं चलता बच्चा भी रोता है तो पता नहीं चलता जिंदा आदमी को तो पता चलेगा और जितना ज्यादा जिंदा होगा उतना ज्यादा पता चलेगा उतनी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी उसकी उतनी उसकी संवेदना बढ़ जाएगी जितना शांत होगा जितना जीवंत होगा जरा सी ध्वनि और उसके प्राणों में आंदोलन होगा जरा सी आवाज उसे सुनाई पड़ेगी एक सुई गिर जाएगी तो भी उसे सुनाई पड़ेगी जीवन का लक्षण तो संवेदना है मृत्यु का लक्षण संवेदना नहीं है लेकिन अब तक हमको इस तरह की बातें ही सिखाई गई कि जिससे डेड हो जाओ मुर्दे की तरह हो जाओ नहीं मैं आपको और भी जीवंत देखना चाहता हूं इतना जीवंत कि वृक्ष का एक छोटा सा पत्ता भी हिले तो पता चले अब तक रेसिस्टेंस बताया गया ध्यान का अर्थ है प्रतिरोध अपने को दबाओ हटाओ कुछ सुनाई ना पड़े कुछ ज्ञात ना हो सब तरफ से अपने को बंद कर लो एक क्लोजिंग मैं कह रहा हूं ध्यान है एक ओपनिंग द्वार का खोलना बंद करना नहीं खोल दें द्वार और जो भी आता है चुपचाप देखते रहें बस एक साक्षी रह जाएं, एक विटनेस रह जाएं। जितने शांत होंगे जितने साक्षी होंगे उतना ही पाएंगे कि जीवन के द्वार टूटते जा रहे हैं एक मेल होता जा रहा है सब जुड़ता जा रहा है धीरे धीरे पता चलेगा सारी परिधि टूटती जा रही है सारी सीमाएं गिरती जा रही हैं और असीम के साथ मिलन होता चला जा रहा है असीम के साथ मिलन है समाधि और असीम की तरफ बढ़ने के प्रयास का नाम है ध्यान लेकिन असीम की तरफ वही बढ़ सकता है जो सारा विरोध छोड़ दे क्योंकि विरोध सीमा बनाता है रेसिस्टेंस सीमा बनाता है कोई रेसिस्टेंस नहीं सब स्वीकार एक स्वीकृति भर मन में रह जाए टोटल एक्सेप्टेंस रह जाए मन में सब स्वीकृत है और मैं मौन बैठा हुआ हूं देख रहा हूं देख रहा हूं जान रहा हूं केवल साक्षी तभी हम यहाँ बैठेंगे सब एक दूसरे से थोड़े फासले पर हो जाएं ताकि ये जो थोड़ा सा अवसर मिला है सभी के जीवन में नहीं है आ गए हैं तीन दिन तो उसका पूरा उपयोग हो जाए थोड़े फासले पर हो जाएं थोड़े एक दूसरे को कोई छूता हुआ ना हो चुपचाप बिना बातचीत किए बैठ जाएं चुपचाप कहीं भी बैठ जाएं चुपचाप आराम से बैठ जाएं जैसा सुविधापूर्ण हो वैसे बैठ जाएं वृक्ष से टिकना हो टिक जाएं जैसा मन हो जैसी मौज हो वैसा चुपचाप शरीर को शांत छोड़कर बैठ जाए फिर आख आहिस्ता से बंद कर लें धीरे से पलक छोड़ दें अपने आप पलक बंद हो जाए आख बंद कर ली है शांत बैठ गए हैं अब जीवन के प्रति सारा विरोध छोड़ दे मन के द्वार खुले छोड़ दे हवाएं आएंगी और मन के द्वार से गुजर जाएंगी कोई पक्षी बोलेगा आवाज गूंजेगी और निकल जाएगी आप केवल साक्षी रह गए हैं चुपचाप बैठे देखते रहे देखते रहे सुनते रहे सुनते रहे बस सुनते रहे एक साक्षी एक विटनेस और कुछ भी नहीं धीरे धीरे मन बिल्कुल शांत हो जाए सुने हवाओं को सुने सागर के गर्जन को सुने प्रभु की बहुत आवाजें हैं सुने ये पक्षी बोलने लगा सुनते रहे सुनते रहे और मन शांत होता जाएगा सुनते रहे दस मिनट के लिए बिल्कुल सुनते रह जाए सब मिट जाएगा हवाएं रह जाएंगी पक्षी रह जाएंगे आप मिट जाएंगे जगत रह जाएगा आप नहीं रह जाएंगे जीवन रह जाएगा आप नहीं रह जाएंगे छोड़ दें सब चुपचाप सुनते रह जाएंगे दस मिनट के लिए सुने रहे एक साक्षी भर मन धीरे धीरे शांत होता जाए मन बिल्कुल सन्नाटे से भर जाए मन बिल्कुल गहरा शांत हो जाए मन शांत हो गया सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे हवाएं रह गई सागर का गर्जन रह गया आप कहा हैं हवाएं रह गई सागर का गर्जन रह गया पक्षियों की आवाज रह गई आप कहा हैं सुनते रहे सुनते रहे धीरे धीरे सब शांत होता जा रहा बिल्कुल मिट गए मन शांत हो गए गया मन बिल्कुल शांत हो गया एक साक्षी भर रह गए मात्र एक साक्षी रह गए सुनते रहे सुनते रहे मन और गहरा शांत होता चला जाए हवाएं रह गई सागर का गर्जन रह गया पक्षियों की ध्वनिया रह गई आप मिट गए धीरे धीरे दो चार गहरी श्वास ले दुलारी उसे जरा धीरे धीरे दो चार गहरी सांस ले फिर आहिस्ता से आंख खोलें धीरे से आंख खोली बैठक समाप्त हुई ओशो नेति नेति talks from the series Shunya Ki Naav given at meditation camp Nargol, India. Discourse number 5. जीवन देवता के प्रति समर्पण का भाव स्वीकार सम्मान और श्रद्धा की मनस्थिति के संबंध में सुबह थोड़ी सी बात जो कही है उस संबंध में बहुत से प्रश्न आए हैं उन तरफ ही बात करते हैं जीवन सदा से अस्वीकृत रहा है जीवन की श्रद्धा और सम्मान के लिए न तो कभी कोई पुकार दी गई है न कभी कोई आवाहन किया गया है जीवन को छोड़ देने जीवन से पलायन करने को जीवन को तोड़ देने और नष्ट कर देने को बहुत बहुत रूपों में चेष्टाएं जरूर की गई है या तो वे लोग पृथ्वी पर प्रभावी रहे हैं जिन्होंने दूसरे के जीवन को नष्ट करने की कोशिश की हो राजनीतिज्ञ सेनापति युद्धखोर या जो लोग दूसरों का जीवन नष्ट करने में नहीं लगे हैं तो वे दूसरी प्रक्रिया में लग गए वे अपने ही जीवन को नष्ट करने का प्रयास करते रहे तथा कथित धार्मिक तथा कथित साधु संन्यासी दो प्रकार की हिंसा चलती रही है या तो दूसरे का जीवन नष्ट करो या अपना जीवन नष्ट करो या तो दूसरों को समाप्त करो या स्वयं को समाप्त करो जीवन की दोनों ही अर्थों में हत्या होती रही है जीवन का परिपूर्ण सम्मान आज तक भी मनुष्य के मन में प्रतिष्ठित नहीं हो पाए स्वभावता जब मैं कहूं कि जीवन ही देवता है जीवन ही प्रभु है तो अनेक प्रश्न उठाने स्वाभाविक है एक मित्र ने पूछा है अगर जीवन ही प्रभु है तो फिर जीवन से छुटकारे और आवागमन से मुक्ति और मोक्ष इस सब का क्या होगा जीवन को तो बंधन कहा गया है और मैं जीवन को ही प्रभु कह रहा हूं निश्चित ही आज तक जीवन को बंधन ही कहा गया है लेकिन जीवन बंधन नहीं है जो लोग जीवन को जीने की कला नहीं जानते उनके लिए जीवन जरूर बंधन हो जाता है एक अजनबी देश से कुछ मित्र यात्रा कर रहे थे वे भूखे थे और फलों की एक दुकान पर रुके लेकिन जो फल वहां बिक रहे थे अपरिचित थे अजनबी देश था नहीं जानते थे क्या है वे फल नारियल बिकते थे लेकिन वे लोग जिस देश से आते थे वहां नारियल नहीं होते थे उन्होंने पूछा ये क्या है दुकानदार ने कहा बहुत बहुत स्वादिष्ट बहुत मधुर बहुत शक्तिवर्धक फल है उन्होंने उन फलों को खरीद लिया दुकानदार ने प्रशंसा में ये भी कहा कि बड़े बड़े सहनशाह भी बड़े बड़े सम्राट भी मेरी ही दुकान से इन फलों को खरीदते फिर वे फलों को लेकर आगे बढ़ गए गांव के बाहर वे रुके और उन्होंने फलों को खाने की चेष्टा की लेकिन नारियलों से वे परिचित नहीं थे वे जिन फलों से परिचित थे उन पर नारियल जैसी कड़ी खोल नहीं होती थी उन्होंने नारियल को ऊपर से ही खाना शुरू किया बहुत परेशान हो गए तिक्त हो गया मुंह कहीं कोई स्वाद ना दिखाई पड़ा दांत गपाना भी कठिन था मुश्किल था फिर उन्होंने एक एक करके वे फल फेंक दिए और कहा बड़े मूड है इस देश के सम्राट और संसार जो इन फलों को खाते हैं इन फलों में न कोई स्वाद है न कोई रस है न कोई अर्थ प्रतीत होता कैसे पागल हैं इस देश के लोग उन फलों को फेंक कर वे भूखे ही आगे बढ़ गए और अपने देश में जाकर उन्होंने बहुत प्रचार किया कि हम एक मूर्खों के देश से गुजर के आ रहे हैं वहां लोग पत्थरों जैसे फलों को खाते हैं और उनकी प्रशंसा करते उन बेचारों को पता भी नहीं था कि फल वे पत्थर जैसे नहीं थे लेकिन खाने की विधि उन्हें ज्ञात न थी खाने की विधि अज्ञात थी जीवन के फल पर भी जो खाने की विधि से जीवन को भोगने की विधि से जीवन के रस के मार्ग से जीवन के छंद को अनुभव करने के मार्ग से अपरिचित है उन्हें जीवन लोहे की जंजीर प्रतीत होता हो तो आश्चर्य नहीं जीवन जंजीर नहीं है और जीवन से भिन्न कोई मोक्ष नहीं है जीवन को ही जो उसकी परिपूर्णता में जानने में समर्थ होता है वो जीवन के मध्य जीवन के बीच ही मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है ये हो भी नहीं सकता कि जीवन और मोक्ष में कोई विरोध हो ये हो भी नहीं सकता कि जगत में कोई दो विरोधी सत्ताएं हों ये हो भी नहीं सकता कि प्रभु और संसार में बुनियादी शत्रुता हो कोई गहरी मैत्री का सेतु है कोई एक ही सब संसार में मोक्ष में प्रकट हो रहा है देह में आत्मा में रूप में अरूप में लेकिन हमारी असफलता जीवन के फल को चखने की हमारी सीमा हमारे लिए बंधन बनती रही है जीवन को जीने की कला ही हमने नहीं सीखी बल्कि कला न जानने से जब जीवन तिक्त और बेस्वाद लगा तो हमने जीवन को ही तोड़ देने की कोशिश की अपने को बदलने की नहीं हमने उस पागल की तरह व्यवहार किया है शायद उस पागल के संबंध में आपने सुना हो न सुना हो तो मैं कहूं और शायद आप पहचान भी लें कि वो पागल कौन है एक पागल आदमी था वो अपने को बहुत ही सुंदर समझता था जैसा कि सभी पागल समझते हैं वैसा वो समझता था पृथ्वी पर उस जैसा सुंदर और कोई भी नहीं यही पागलपन के लक्षण है लेकिन वो आईने के सामने जाने से डरता था और जब कभी कोई उसके सामने आईना ले आता तो तत्ण आईने को फोड़ देता था लोग पूछते क्यों तो वो कहता कि मैं इतना सुंदर हूं और आईना कुछ ऐसी गड़बड़ करता है कि आईना मुझे क्रूप बना देता है आईना मुझे क्रूप बनाने की कोशिश करता है मैं किसी आईने को बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं सब आईने तोड़ दूंगा मैं सुंदर हूं और आईने मुझे कुरूप करते वो कभी आईने में न देखता लोग आईना ले आते तो तत्ण तोड़ देता मनुष्य भी उस पागल की तरह व्यवहार करता रहा है नहीं सोचता कि आईना वही दिखाता है जो मेरी तस्वीर है आईना वही बताता है जो मैं हूं आईने को कोई प्रयोजन भी नहीं कि मुझे कुरूप करे आईनों को कोई मेरा पता भी नहीं मैं जैसा हूं आईना वैसा बता देता लेकिन बजाय ये देखने के कि मैं कुरूप हूं आईने को तोड़ने में लग जाता हूं संसार को छोड़ के भाग जाने वाले लोग आईने को तोड़ने वाले लोग हैं अगर संसार दुखद मालूम पड़ता है तो स्मरण रखना कि संसार एक दर्पण से ज्यादा नहीं वही दिखाई पड़ता है जो हमें अगर दुख हमारे जीवन की व्यवस्था है तो संसार में दुख दिखाई पड़ेगा अगर चिंता हमारे चित्त की व्यवस्था है तो संसार में चिंता झलकेगी अगर कांटे हमने इकट्ठे कर रखे हैं तो संसार में कांटे दिखाई पड़ेंगे संसार हमारी प्रतिध्वनि है जो हमारे भीतर है वही प्रतिध्वनित हो उठता है वही री इको हो उठता है लेकिन नहीं ये देखने को हम राजी नहीं हम कहते हैं संसार बंधन है हम कहते हैं संसार दुख है हम कहते हैं संसार असार है छोड़ दें तोड़ दे मुक्त हो जाए बाहर हो जाए किससे बाहर होंगे दर्पण को तोड़कर कोई मुक्त होता है प्रतिध्वनियों को बंद कर कोई मुक्त होता है मुक्त होना है तो स्वयं को बदलना पड़ता है न कि जीवन को तोड़ना मुक्त होना हो तो स्वयं को आमूल बदलना पड़ता है और स्वयं को जो आमूल बदलने को तैयार हो जाता है वो पाता है कि जीवन एक धन्यता है एक कृतार्थता है वो परमात्मा के प्रति धन्यवाद से भर उठता है इतना सुंदर है जीवन इतना अद्भुत है इतना रसपूर्ण इतने छंद से भरा हुआ इतने गीतों से इतने संगीत से लेकिन उस सब को देखने की क्षमता और पात्रता चाहिए उस सब को देखने की आंखें सुनने के कान स्पर्श करने वाले हाथ चाहिए और भी कुछ मित्रों ने पूछा है कि मैंने सुबह जीवन की कला पर कुछ कहा मैं और ठीक से कहूं कि जीवन की कला से मेरा क्या प्रयोजन है जीवन की कला से मेरा यही प्रयोजन है कि हमारी संवेदनशीलता हमारी पात्रता हमारी ग्राहकता हमारी रिसेप्टिविटी इतनी विकसित हो कि जीवन में जो सुंदर है जीवन में जो सत्य है जीवन में जो शिव है वो सब वो सब हमारे हृदय तक पहुंच सके उस सब को हम अनुभव कर सके लेकिन हम जीवन के साथ जो व्यवहार करते हैं उससे हमारे हृदय का दर्पण न तो निखरता न निर्मल होता न साफ होता और गंदा होता और धूल से भर जाता है उसमें प्रतिबिंब पड़ने और भी कठिन हो जाते हैं जिस भांति जीवन को हम बनाए हैं सारी शिक्षा सारी संस्कृति सारा समाज मनुष्य के व्यक्तित्व को ठीक दिशा में नहीं ले जाता है बचपन से ही गलत दिशा शुरू हो जाती है और वो गलत दिशा जीवन भर जीवन से ही परिचित होने में बाधा डालती रहती है उस संबंध में दो चार बातें समझ लेनी उपयोगी होंगी उस संबंध में ही प्रश्न पूछे गए हैं वो भी हल हो सकेंगे पहली बात जीवन को अनुभव करने के लिए एक प्रमाणिक चित्त एक ऑथेंटिक माइंड चाहिए हमारा सारा चित्त औपचारिक है फॉर्मल है प्रमाणिक नहीं है न तो हम प्रमाणिक रूप से कभी प्रेम किए हैं न प्रमाणिक रूप से कभी क्रोध किए हैं न प्रमाणिक रूप से कभी हमने घृणा की है न प्रमाणिक रूप से हमने कभी क्षमा की है हमारे सारे चित्त के आवर्तन हमारे सारे चित्त के रूप औपचारिक हैं झूठे हैं मिथ्या अब मिथ्या चित्त को लेकर जीवन के सत्य को कोई कैसे जान सकता है सत्य चित्त को लेकर ही जीवन के सत्य से संबंधित हुआ जा सकता है हमारा पूरा माइंड हमारा पूरा चित्त हमारा पूरा मन मिथ्या और औपचारिक है इसे समझ लेना उपयोगी है सुबह ही आप अपने घर के बाहर आ गए हैं और कोई राह पर दिखाई पड़ गया है और आप नमस्कार कर लिए हैं और आप कहते हैं उसे मिलके की बड़ी खुशी हुई आपके दर्शन हो गए लेकिन मन में आप सोचते हैं इस दुष्ट का सुबह ही सुबह चेहरा कहां से दिखाई पड़ता है ये अनऑथेंटिक माइंड ये गैर प्रमाणिक मन की शुरुआत हुई 24 घंटे हम ऐसे दोहरे ढंग से जीते हैं तो जीवन से कैसे संबंध होगा फिर दोष देना जीवन को बंधन पैदा होता है दोहरेपन से जीवन में कोई बंधन नहीं है बंधन पैदा होता है मनुष्य के दोहरेपन से हम दोहरे ढंग से जी रहे हैं भीतर कुछ है बाहर कुछ है दोहरा ढंग भी होता तो भी ठीक हम हजार ढंग से जी रहे हैं एक ही साथ हजार बातें हमारे भीतर चल रही है हमारे व्यक्तित्व में कोई प्रमाणिकता कोई भी सच्चाई नहीं है सारा व्यक्तित्व झूठ मालूम होता है सारा व्यक्तित्व ही अभिनय का एक्टिंग का मालूम होता है किसको धोखा दे रहे हैं लेकिन आप किसके सामने ये अभिनय चल रहा है किसी और को धोखा नहीं होगा इस धोखा देने में स्वयं को ही जानने से वंचित रह जाएंगे जीवन से संबंधित होने से वंचित रह जाएंगे सब तरह का धोखा है जो आदमी दे रहा है सबसे गहरा धोखा मन के तलों पर है जहां हमारी कोई भी चीज सच नहीं रह गई है कभी आपने सच में ही किसी को प्रेम किया है समझदार लोग कहते हैं प्रेम ना समझ करते हैं समझदार लोग प्रेम की बातें करते हैं अभिनय करते हैं प्रेम वगैरह कभी नहीं करते व्यवहारिक लोग जो प्रैक्टिकल लोग हैं वो कभी प्रेम प्रेम सिर्फ प्रेम की बातें करते हैं हमारे सारे भाव बातों तक सीमित हो गए हैं कभी कोई जीवन की कोई भी अनुभूति ऐसी तीव्रता से हमें नहीं पकड़ ली है जिसके लिए हम जी जाएं या जिसके लिए हम मर जाएं कोई ऑथेंटिक कोई प्रमाणिक दाव हमारे जीवन में नहीं है क्रोध भी हम करते हैं तो पोच इम्पोर्टेंट उस क्रोध में भी कोई बल नहीं होता कोई शक्ति नहीं होती जो क्रोध भी नहीं कर सकता प्रमाणिक रूप से वो क्षमा कैसे कर सकेगा क्षमा भी वही कर सकता है जो क्रोध करने में समर्थ हो मित्र भी वही हो सकता है जो शत्रु होने में समर्थ हो लेकिन ना हम शत्रु हो सकते हैं ना हम मित्र हो सकते हैं हम बिल्कुल बीच में खड़े रह गए हम बिल्कुल त्रिशंकु हो गए हमारे जीवन की कोई भाव दशा नहीं रह गई एक एक ग्रामीण युवक पुराने दिनों की बात है क्योंकि अब तो दुनिया में ग्रामीण कोई भी नहीं रह गया है ग्राम रह गए हैं ग्रामीण कोई भी नहीं रह गया है आदमी सब शहरी है एक ग्रामीण युवक विवाह किया है वो अमेरिका के कोई 200-250 वर्ष पहले किसी गांव की घटना है वो विवाह किया और अपनी नौ वधु पत्नी को लेकर अपने घोड़े की बैल अपनी घोड़ा गाड़ी में सवार होकर गांव की तरफ वापस लौटा रास्ते में घोड़ा एक जगह ठिटक गया रुक गया उसने बहुत चलाने की कोशिश की लेकिन नहीं चला उसने घोड़े से कहा दिस इज वंस ये एक बार हुआ उसकी पत्नी कुछ भी न समझी कि घोड़े से क्या बात की जा रही फिर घोड़ा थोड़ी दूर चलाओ फिर ठिटक गया उस जवान ने कहा दिस इज ट्वाइस ये दोबारा हो गई बात उसकी पत्नी फिर भी चुप रही घोड़ा तीसरी बार ठिटका उसने कहा दिस इज थ्राइस उठा बंदूक उठा के घोड़े को गोली मार दी उसकी पत्नी तो हैरान रह गई उसने उसे जोर से धक्का मारा और कहा ये क्या क्रूरता करते हो ये क्या पागलपन करते हो उसने कहा दिस इज वंस उसने कहा यह पहली बार हुआ उसकी पत्नी तो दंग रह गई उस जवान ने कहा दो मौके और बच गए उसकी पत्नी ने लिखा है कि मैंने पहली बार उस व्यक्ति की तरफ देखा जिसका क्रोध इतना ज्वलंत हो सकता है और मुझे पहली दफे उसके व्यक्तित्व में एक बल और एक शक्ति और एक तेज का दर्शन हो नहीं आपसे कह रहा हूं कि किसी को गोली मार दे लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि वो व्यक्ति इतना ही प्रेम भी कर सका मनुष्य जाति को उसके जीवन को विषाक्त कर देने वाले जो शिक्षक हुए हैं उन्होंने सब तरफ से इम्पोर्टेंट कर दिया सब तरफ से पंगुता सिखाई है सब तरफ से जीवन के समस्त तीव्र भावों पर सब तरफ से रोक लगा दी है सब तरफ से कैद कर दिया आदमी को तब उसके भीतर कोई भी चीज बलशाली शेष नहीं रह गई है अकबर के दरबार में एक सुबह एक घटना घट गट गई दो राजपूत युवक आए नंगी तलवारें उनके हाथों में है और अकबर के सिंहासन के सामने वे खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हम दो राजपूत जवान हैं हम दोनों जुड़वा भाई हैं और हम दोनों तलाश में निकले हैं नौकरी चाहिए अकबर ने कहा तुम्हारी योग्यता क्या है तुम्हारी योग्यता क्या है उन्होंने कहा हम दो बहादुर लोग हैं और कोई हमारी योग्यता नहीं अकबर ने कहा कोई प्रमाण पत्र कोई सर्टिफिकेट लाए हो उन दोनों की आंखें ऐसे चमक उठी जैसे दो अंगारे उनकी तलवारें म्यानों के बाहर आ गई और एक दूसरे की छाती में एक क्षण में प्रविष्ट हो गई एक क्षण बाद दो लाशें पड़ी थी और खून के फगवारे बह गए थे अकबर तो घबराया उसके तो हाथ पैर कप गए उसने अपने राजपूत सेनापति को बुलाया और कहा कि ये क्या हुआ मैंने तो छोटी सी बात कही थी कि कोई प्रमाण पत्र लाए हो बहादुरी का वो राजपूत सेनापति बोला गलत बात कही थी आपने राजपूत से कहीं ऐसा पूछना होता है बहादुरी का प्रमाण पत्र और बहादुरी के कोई प्रमाण पत्र होते हैं सिवाय इसके कि कोई जिंदगी दांव पर लगा के दिखा दे और क्या प्रमाण पत्र हो सकता है कोई कागज के सर्टिफिकेट होते हैं बहादुरी के उन दोनों ने दिखा दिया कि बहादुरी का क्या मतलब होता है एक ही मतलब होता है कि आदमी मौत के सामने खड़ा हो सकता है निर्भय और कोई मतलब नहीं होता बहादुरी का और बहादुरी का कोई प्रमाण पत्र नहीं होता और जो आदमी बहादुरी का प्रमाण पत्र लिए फिरता हो उस आदमी से ज्यादा कायर कोई आदमी नहीं हो सकता है असल में प्रमाण पत्र कायर ही ढोते हैं और कोई प्रमाण पत्र नहीं लिए घूमता है अकबर ने अपने संस्मरणों में लिखवाया है कि वो बात मुझे याद रह गई मैंने तो जिंदा आदमी देखे थे एक क्षण में एक तीव्रता में एक प्रमाणिक जीवन देखा था एक क्षण में वो चमक देखी थी जो आदमी की चमक है लेकिन हम सबके जीवन से आदमी की चमक विलीन हो गई है न कभी वहां क्रोध ऐसा चमकता है कि बिजली की लौ पैदा हो जाए न कभी प्रेम वहां कोई चमक ही नहीं है हम बिल्कुल बिना चमक के बिना विद्युत के बिना बल के बिना शक्ति के लोग होते चले गए जीवन से हमारा संबंध नहीं हो सकता है जीवन से संबंध के लिए शास्त्रों का अध्ययन नहीं जीवन से संबंधित होने के लिए मंदिरों की प्रार्थनाएं नहीं जीवन से संबंधित होने के लिए इंटेंसिटी तीव्रता का जीवन चाहिए एक ही प्रार्थना है जीवन देवता के मंदिर में वो है इंटेंस लिविंग वो है तीव्र जीवन वो है उद्दाम जीवन वो है बल शक्तिशाली जीवन ऊर्जा से भरा जीवन हम सब बिना ऊर्जा के जीते चले जाते हैं चलते नहीं है रास्तों पर जैसे धक्के खाते हैं मेरी दृष्टि में जीवन की कला की पहली शिक्षा जो हो सकती है वो ये कि हम जीवन को कितनी तीव्रता से ले सके एक एक क्षण को तीव्रता से ले सके जैसे एक एक क्षण ही हमारा जीवन दांव पे लगा हो कौन जानता है एक क्षण के बाद जीवन आए ना आए श्वास आए ना आए सच्चाई यही है कि एक एक क्षण जीवन दांव पर लगा हुआ है अब आप यहां बैठे हैं इतनी सुस्ती से इतने आराम से अगर आपको खबर की जाए कि बस घंटा भर और है आपके जीवन के लिए तो वो घंटा क्या होगा या आपको कहा जाए कि बस एक क्षण और है ये अंतिम क्षण है उस क्षण में आप कैसे जिएंगे सच्चाई भी यही है कि एक आदमी को एक क्षण से ज्यादा जीवन मिला हुआ नहीं दूसरे क्षण का कोई भरोसा नहीं वो आए और ना आए जो क्षण मेरे हाथ में है वही मेरे हाथ में है अगर उस क्षण को मैं अपनी पूरी शक्ति से नहीं जीता हूं तो मैं जीवन की कला कभी नहीं सीख पाऊंगा अगर मैं भोजन कर रहा हूं तो कौन जानता है दोबारा भोजन कर सकूंगा कि नहीं अगर मैं किसी को प्रेम कर रहा हूं तो कौन जानता है दोबारा ये प्रेम का क्षण आएगा या नहीं अगर मैं आकाश के तारे देख रहा हूं तो कौन कह सकता है कि दोबारा ये तारे मुझे देखने को मिलेंगे या नहीं तो एक ही बात हो सकती है जीवन की कला की पहला सूत्र यही हो सकता है कि जो भी मैं कर रहा हूं जिस क्षण से भी मैं गुजर रहा हूं जो भी मैं हूं वो मैं समग्रता से हो जाऊं वो मैं पूर्णता से हो जाऊं वो मेरा टोटल वो मेरे समग्र